मिलन सो नैन भया खुशाल दिल मनमास्ता मतवल हुआ गूंगा गहिर रसाल भजन भरोसा एकबल एकास विश्वास प्रीति प्रतीति एक नाम पर सोई संत दास है खुशबोई पास में जानी पर नहीं सोए भरम लगे भटकत फिरे तीरथ बरस सब कोई जंगम जोगी सेवड़ा पड़े काल के हाथ कहे दरिया सोई बाचे हैं सत नाम के साथ बारिधि अथाय जल बोहित बिनु किमि पार कन्हरिया गुरु ना मिला बूढ़त है मंजधार दरिया कहे शब्द निर्वाण निर्वाण की सुगंध उनके ही शब्दों में हो सकती है जो समग्र रूपेण मिट गए जो नहीं है जिन्होंने अपने अहंकार को पहुंच डाला जिनके भीतर शून्य विराजमान हुआ है उसी शून्य से संगीत उठता है निर्वाण का जब तक बोलने वाला है तब तक निर्वाण की गंध नहीं उठेगी जब बोलने वाला चुप हो गया तब फिर असली बोल फूटते हैं जब तक बांसुरी में कुछ भरा है स्वर प्रकट न होंगे बांसुरी तो पोली हो बिल्कुल पोली हो तो ही स्वरों की संवाहक हो पाती दरिया बांस की पोली पोंगरी शब्द निर्वाण के उनसे झर रहे उनके नहीं परमात्मा के क्योंकि निर्वाण का शब्द परमात्मा के अतिरिक्त और कौन बोलेगा और कोई बोल नहीं सकता है और जहां से तुम्हें निर्वाण के शब्दों की झनकार मिले वहां झुक जाना फिर अपनी अपेक्षाएं छोड़ देना लोग अपेक्षाएं लिए चलते इसलिए सदगुरुओं से वंचित रह जाते तुम्हारी कोई अपेक्षा के अनुकूल सदगुरु नहीं होगा तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे अज्ञान से जन्मी है तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे अज्ञान का ही हिस्सा है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल गुरु को खोजता है गुरु तो सदा मौजूद है पृथ्वी कभी भी इतनी अभागी नहीं रही कि गुरु मौजूद ना हो लेकिन हमारी अपेक्षाएं अब जैसे तुमने अगर अलहलाज मंसूर को अपना गुरु समझाया और तुम खोजने निकले तो तब तक तुम किसी को गुरु न मानोगे जब तक उसके हाथ पैर न कटे और जवान न काटी जाए और गर्दन न गिराई जाए तब तक तुम किसी को गुरु ना मानोगे अगर जीसस को तुमने गुरु मान बैठे हो तो जब तक किसी को सूली ना लगे तब तक तुम उसे गुरु ना मानोगे लेकिन जिसे सूली लग गई वह तुम्हारे किस काम का तुम जा चुके गुरुओं से अपनी अपेक्षाएं पैदा कर लेते हो तो कोई महावीर को खोज रहा है नहीं मिलेंगे उसे गुरु बस महावीर एक बार होते कोई बुद्ध को खोज रहा है नहीं मिलेंगे उसे गुरु बुद्ध बस एक बार होते इस जगत में कुछ भी पुनरुक्त नहीं होता यह जगत प्रत्येक को अनूठा व्यक्तित्व देता है गुरु तो सदा मौजूद हैं और ऐसा भी नहीं कि खोजने वाले नहीं हैं लेकिन खोज कुछ बुनियाद से गलत हो जाती बर सरेदार खिंचे या न खिंचे वो है लेकिन जो कहे कलम हक तू उसे मंसूर समझ फिर चाहे फांसी पर लटकाया गया हो या न लटकाया गया हो जो कहे निर्वाण का शब्द जो कहे सत्य की बात जिसके पास सत्य की भनक हो जिसके पास बैठकर सत्य की सोरा तुम्हारे तन प्राण को मस्त करने लगे उसे मंसूर समझ बरसरे वार वर्सरे खिंचे या न खिंचे वो लेकिन जो कहे कलम ए हक तू उसे मंसूर समझ जहां भी ये उद्घोषणा हो अहम ब्रह्मास्मि वहां जरा जाग कर अपेक्षाओं को छोड़कर शांत होकर मौन होकर विचार से रिक्त होकर संबंध जोड़ना संबंध बांधना सत्संग बनाना क्योंकि सत्संग ही सेतु है दरिया कहे शब्द निर्वाणा मगर तुम सुनोगे सवाल तुम्हारे सुनने का है सदगुरु कहते हैं कहते रहे मर अधिकतर तो वज्र बद्र कानों पर उनके शब्द पड़ते हैं और खो जाते जीसस ने कहा है जैसे कोई बीज फेंके कुछ बीज रास्ते पे पड़ जाएं तो कभी पनपेंगे नहीं दिन रात लोग रास्तों पर चलते रहते हैं बीजों को पनपने का मौका कब मिलेगा कुछ बीज खेत की मेड़ों पर पड़ जाएं पनपेंगे तो जरूर लेकिन जल्दी ही मर जाएंगे क्योंकि मेड़ों से लोग निकलते हैं कभी कभार निकलते हैं रास्ते जैसे नहीं मगर फिर भी निकलते हैं कुछ बीज पत्थरों पर पड़ जाएं वहां से कोई भी नहीं निकलता लेकिन पत्थरों में कहीं बीज फूटे हां कुछ बीज जो ठीक ठीक भूमि में पड़ जाएंगे आर्द्र भूमि में पड़ जाएंगे वे उमगेंगे वे बड़े वृक्ष बनेंगे उनकी शाखाएं आकाशों में फैलेंगी उनके मस्तक चांतारों को छुएंगे उनमें फूल खिलेंगे उनसे फूल झरेंगे सदगुरु तो फेंकते हैं वचन रूपी बीज पर तुम कहां लोगे उन्हें अगर तुमने अपने सिर में लिया तो वो चलता हुआ रास्ता है वहां इतने विचारों की भीड़ चल रही वहां ऐसा ट्रैफिक है कि वहां कोई बीच पनप नहीं सकता जब तक कि तुम अपने हृदय की गीली भूमि में ही बीजों को ना लो तब तक फसल से वंचित रहोगे और जिंदगी बड़ी उदास है और जिंदगी इसीलिए उदास है कि जिन बीजों से तुम्हारी जिंदगी हरी होती फूल खिलते गंध बिखरती उन बीजों को तुमने कभी स्वीकार नहीं किया है और अगर तुम पूछते भी हो तो तुम मुर्दों को पूछते हो अगर तुम फूल भी चढ़ाते हो तो पत्थरों के सामने चढ़ाते हो अगर तुम तीर्थ यात्राओं पर भी जाते हो बाहर की तीर्थ यात्राओं पर जाते हो तीर्थ यात्रा तो बस एक है उसका नाम अंतर यात्रा है और सदगुरु तो केवल जीवित हो तो ही सार्थक है तुम मुर्दा माझी की नाव में तो ना बैठोगे और वो कितना ही बड़ा माझी क्यों ना रहा हो जब जिंदा था मगर अब उसके हाथ में पतवार किसी अर्थ की नहीं वह नाव को खे ना सकेगा जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है कहीं भी जल नहीं है सिर्फ रेगिस्तान गाता है कहीं भी घुंगरू की गूंज का धोखा नहीं होता मरण के खौफ से जीवन यहां खुलकर नहीं रोता यहीं से हां यहीं से जिंदगी आरंभ होती है तुम्हें अगर स्मरण आ जाए कि तुम सावन होने को पैदा हुए थे और तुम क्या होकर रह गए हो ये जलती दोपहरी ग्रीष्म की कि तुम्हारे भीतर कोयल की कूक गूंजनी थी कि पपीहे का गीत उठना था और तुम क्या होकर रह गए हो ये बांझ विचारों की भीड़ ये व्यर्थ विचारों की भीड़ ये कूड़ा करकट इससे तुमने अपने प्राणों के उस पात्र को भर लिया है जिसमें अमृत भरा जा सकता था तुम पैदा हुए थे उपवन होने को और मरुस्थल होकर समाप्त हो रहे हो ये स्मरण आ जाए तो यहीं से हाँ यहीं से जिंदगी आरंभ होती इसी स्मरण के साथ जिंदगी का प्रारंभ होता है क्योंकि इसी स्मरण के साथ सदगुरु की तलाश शुरू होती तो खोजें उसे कि जिसके वचन बीज की तरह पड़े तुम्हारे हृदय पर दरिया कहे शब्द निर्वाणा कि जिसके निर्वाण का रस तुम्हें भी बांध ले कि जिसके निर्वाण की आवाज तुम्हें भी पुकार दे चुनौती बन जाए कि जिसके साथ तुम भी हो लो अनंत की यात्रा पर अज्ञात की यात्रा पर कि परमात्मा की खोज तुम्हारी खोज बन जाए जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है कहीं भी जल नहीं है सिर्फ रेगिस्तान गाता है कहीं भी घुंगरू की गूंज का धोखा नहीं होता मरण के खौफ से जीवन यहां खुलकर नहीं रोता यहीं से हां यहीं से जिंदगी आरंभ होती है खड़ी हैं बाह फैलाए हुए मजबूत चट्टाने गुजरती आंधियां अपनी कमाने हाथ में ताने गजब का एक सन्नाटा कहीं पत्ता नहीं हिलता किसी कमजोर तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता कभी उन्माद हंसता है कभी उम्मीद रोती बराए नाम जीते हैं बराए नाम मरते उन्हीं दी आंख से टूटे हुए सपने गुजरते हैं उजाले के हमारे बीच का पर्दा नहीं उठता सुबह आए ना आए रात से पीछा नहीं छूटता उदासी सांस चलती है उदासी सांस सोती है बनाने के लिए हमने स्वयं किस्मत बनाई विफलता एक पूंजी है निराशा ही कमाई है जलन से दोस्ती है उलझनों से आसनाई है लड़ाई है अगर अस्तित्व से अपने लड़ाई है स्वयं पतवार कश्ती को किनोरे किनारे तक डुबोती है खुशी अक्सर सिमाने से हमें आवाज देती रुकावट दायरा बनकर हमेशा घेर लेती कभी मेला लगा रहता पुकारों का ख्यालों का कभी उत्तर नहीं मिलता बड़े भोले सवालों का हमारा हाथ खाली आंख में ही एक मोती हमें जागा हुआ पाकर हमेशा रात हंसती शरद की चांदनी में आग अंबर से बरसती है जिसे भी देख दें हम वह सितारा टूट जाता है अगर धारा पकड़ते हैं किनारा छूट जाता है कली हंसकर हमारी आंख में कांटे चुभोती है कभी शमशान की धमकी कभी तूफान की गाली हमारी उम्र का प्याला कभी गम से नहीं खाली मरुस्थल पर सुबह से शाम तक बादल बरसते हैं समुन्द्र में बसे हैं हम मगर जल को तरसते हैं हमारे ओंठ आकर मृत्यु चुंबन से भिगोती है भवर में डूब जाते हैं अगर तो तर गए हैं हम जिलाने के लिए तस्वीर को खुद मर गए हैं हम किसी बारात में शामिल हमारा दिल नहीं होता हमारी राह का कोई सिरा मंजिल नहीं होता समझ सिंदूर हमको मांग में पीड़ा संजोती है जहां तक भी नजर जाती धुआं ही हाथ आता है कहीं भी जल नहीं है सिर्फ रेगिस्तान गाता है कहीं भी घुंगरू की गूंज का धोखा नहीं होता मरण के खौफ से जीवन यहां खुलकर नहीं रोता यहीं से हां यहीं से जिंदगी आरंभ होती जिस क्षण तुम्हें इस बात का स्मरण आता है कि तुम अकारण व्यर्थ हुए जा रहे हो कि जीवन का यह महा अवसर ऐसे ही खोया जाता है यहां बहुत कुछ हो सकता था यहां सब कुछ हो सकता था और कुछ भी नहीं हो रहा यहां परमात्मा हो सकता था और तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाओगे यह कैसी नादानी यह कैसा बचकानापन है यह कैसी मूर्ता है इसे तोड़ो दरिया कहे शब्द निर्वाण सुनो दरिया के शब्द ये शब्द तुम्हारे लिए नौकाएं बन सकते ये शब्द तुम्हें चौंकाएंगे जगाएंगे झकझोरेंगे ये शब्द तुम्हें पार भी लगा सकते हैं निर्वाण की याद भी आ जाए उस किनारे का मन में थोड़ा स्वप्न भी जग जाए तो यह किनारा फिर ज्यादा देर तुम्हें बांधे नहीं रख सकता इस किनारे से तुम्हारी जंजीरें टूटनी शुरू हो जाएंगी बेवाह के मिलन सो नैन भया खुशहाल बेबाहा दरिया के भक्तों का ओंकार को दिया गया नाम जिसे नानक कहते एक ओंकार सतनाम जिसे उन्होंने ओंकार को सतनाम कहा जिसे हिंदू राम और मुसलमान अल्लाह और जैन नमोकार और बौद्ध बुद्ध की शरण में जाने के घोषणा को मंत्र कहते हैं यह जैसे गायत्री यह जैसे जपजी छोटे मंत्र हैं बड़े मंत्र हैं मगर सारे मंत्रों का एक ही प्रयोजन कि तुम्हारे भीतर जो संगीत सोया पड़ा है वो छिड़ जाए फिर नमोकार से छिड़े कि गायत्री से छिड़े कि कुरान की कोई आयत उसे जगा दे इससे भेद नहीं पड़ता वीणा तुम्हारे भीतर वीणा को छूना है किस अंगुली से छुओगे अंगुली में हीरे की अंगूठी होगी कि सोने की अंगूठी होगी कि अंगूठी होगी ही नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अंगुली गोली होगी कि काली होगी लंबी होगी कि छोटी होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस भीतर के तार छिड़ जाए झनकार आ जाए तुम नहा जाओ उस झनकार में दरियापंथी अपने महामंत्र को बेवाहा कहते बेवहा सोआ पड़ा है तुम्हारे भीतर तुम उसे जन्म से लेकर आए हो वह तुम्हारे रोम रोम में भिदा पड़ा है मगर जब तक जगाओगे नहीं तब तक तुम वंचित रहोगे प्रकाश और वंचित रहोगे अर्थ से और वंचित रहोगे आनंद से दरिया कहते हैं बेवाह के मिलनसों और जिसका उस परम संगीत से उस अनाहत नाद से मिलन हो गया उस ओंकार में जिसकी डुबकी लग गई नैन भया खुशहाल उसकी आंखें आनंद हो जाती समझो जब आप जिक्र तेरा उज्र ख्वाय दीदिए तर यही वजू है इसी को नमाज कहते हैं नाम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता राम है कि रहीम है कि कृष्ण है कि बुद्ध है कोई भी नाम तुम दे लो उसे नाम तो बहाना है उसे याद करने का नाम तो ऐसे है जैसे घर से तुम बाजार जाते हो कुछ खरीदने कहीं भूल ना जाओ तो कुर्थे के छोर में गांठ बांध लेते गांठ का कोई मूल्य नहीं है और गांठ ऐसी बांधी कि वैसी बांधी इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बाएं तरफ बांधी कि दाएं तरफ बांधी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता गांठ का मूल्य कुछ भी नहीं है अपने आप में पर गांठ का प्रयोजन जरूर है गांठ तुम्हें याद दिलाती रहेगी चलोगे रास्ते पर याद दिलाती रहेगी तुम्हें याद भी ना आए तो दूसरे याद दिला देंगे कुर्ते में गांठ क्यों बांधी याद आती रहेगी कि कुछ खरीद के घर लौटना बाजार कुछ खरीदने आए कोई प्रयोजन है जो पूरा करना है फिर राम की गांठ की कृष्ण की गांठ की गायत्री की नमोकार की बेवाहा कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई भी गांठ चाहिए जो स्मरण दिलाती रहे 24 घंटे सतत स्मरण दिलाती रहे जब आप जिक्र तेरा उज्र ख्वा दे तर बस जुबान पर तेरी याद रहे आंखों में एक ही अभीपसा रहे कि तुझे देखना है जुबान आंखों को याद दिलाती रहे कि देखना है आंखें जुबान को याद दिलाती रहे कि उसका गुणगान जारी रहे जब आप जिक्र तेरा उज्र ख्वा दी देतर यही वजू है इसी को नमाज कहते हैं यही प्रार्थना यही आराधना यही नमाज और जिसकी आंखें उसके दर्शन की प्यासी हो गई और जिसकी जुबान पर उसकी याद सघन होने लगी तो क्रांति घटती भरे हुए हैं निगाहों में हुस्न के जलवे यह क्या मजाल जहां मैं हूं और बाहर ना हो जिसकी आंखों में परमात्मा को देखने की अभीपसा जग गई उसके चारों तरफ बाहर नाचने लगती आ गया मधुमास वसंत ही वसंत है फिर प्रभु के स्मरण में डूबे व्यक्ति को एक ही ऋतु का पता होता है वसंत उसकी ऋतुएं नहीं बदलती उसकी ऋतु तो ठिर ठिर हो जाती उसके लिए समय के परिवर्तन शून्य हो जाते उसके लिए समय के परिवर्तन विदा हो जाते उसके भीतर तो अपरिवर्तनी शाश्वत का नाद होने लगता है उसकी एक ही ऋतु है बसंत फूल ही झरते हैं उसमें मधु ही पीता है वह भरे हुए हैं निगाहों में हुस्न के जलवे और उसकी आंखों में उस प्यारे के सौंदर्य का प्रतिबिंब पकड़ सकते हो तुम उसकी आंखें सौंदर्य से ही अभिभूत रहती उसकी आंखें सौंदर्य से ही डबडबाई रहती भरे हुए हैं निगाहों में हुस्न के जलवे यह क्या मजाल जहां मैं हूं और बाहर ना हो ऐसा व्यक्ति जहां बैठे वहां मधुमास जहां बैठे वहां मधुशाला जहां उठे चले जहां उसके चरण पड़े वहां वहां तीर्थ निर्मित होते मेरी विजय जिस पर नाच से छा गया कोई आंखों में आंखें डाल के बंदा बना गया कोई और तुम परमात्मा को देखना चाहो बस तुम परमात्मा को देखना चाहो बात घट जाती क्योंकि परमात्मा तो तुम्हें देख ही रहा है उसकी आंख तो तुम पर गड़ी इसलिए तो हम कहते हैं उसकी हजार आंखें क्योंकि हरे पे उसकी आंख गड़ी बस तुम आंख बचा रहे तुम यहां वहां देखते हो तुम उसकी याद करो तो तुम्हारी आंख भी उसकी आंख से जुड़ जाए और जहां आंखें चार होती वहां चमत्कार होता मेरी फिजाए जिस पर नाश से छा गया कोई आंखों में आंख डाल के बंदा बना गया कोई दिल से पर्दा जो उठा हो गई रोशन आंखें दिल में वह पर्दा नसी था मुझे मालूम न था और जिस दिन तुम उसे देख लोगे उस दिन चौंकोगे हंसोगे भी रोगे भी इसलिए भक्तों को लोगों ने पागल समझा क्योंकि हंसना और रोना साथ साथ सिर्फ पागलों को ही होता है समझदार आदमी अगर जरूरत हो तो हंसता है और अगर जरूरत हो तो रोता है मगर ऐसा तो कभी नहीं होता कि रोए भी और हंसे भी साथ साथ क्यों ओठ हंसे और आंखें रोएं कि एक आंख हंसे और एक आंख रोए ये तो विक्षिप्ता के लक्षण इसलिए भक्तों को लोगों ने पागल कहा मगर भक्तों को समझो अगर भक्त पागल हैं तो पागलपन ही पाने जैसी चीज है और अगर जो भक्त नहीं वे समझदार हैं तो समझदारी दो कौड़ी की उससे छुटकारा कर लेना भक्तों का पागलपन तुम्हारे तथाकथित समझदारों की समझदारी से लाख गुना बहुमूल्य है लेकिन ये क्यों घटता है कि भक्त हंसता भी है और रोता भी हंसता इसलिए है कि ये भी खूब रही ये भी खूब मजाक रही कि तुम भीतर बैठे थे और मैं तुम्हें जन्म जन्म न मालूम कहां कहां खोजता फिरा कि तुम यहां भीतर थे कि चलने की जरूरत भी ना थी एक कदम ना उठाना था और तुम मिल जाते और मैंने कितनी कितनी यात्राएं की कितनी धूल कितनी गर्द गुबार झेली कहा चांद तारों के किनारे तुम्हें खोजता फिरा और तुम मेरे भीतर बैठे थे तो हंसता भी है कि ये भी खूब रही ये भी मजाक आखिरी रहा और रोता भी है रोता है कि कितने दिन गमाए तुम्हारे बिना रोता है कि कितने दुर्दिन देखे तुम्हारे बिना रोता है कि अब तक सारा जीवन सिर्फ दुर्घटना के और कुछ भी ना रहा बेवाह के मिलन सो नैन भया खुशहाल ये बात समझना यह बात कीमती नैन भया खुशहाल तुमने चीजें तो देखी जो आनंद देती लेकिन तुम्हारे पास ऐसी आंख नहीं है जो आनंद बरसा हाँ देखा कभी सुबह सूरज उगता और कहा खूब सुंदर है और कभी देखा गुलाब का फूल खिला और कहा बहुत सुंदर है और कभी कोई देखा सुंदर चेहरा और कहा बहुत सुंदर है मगर ये तो बाहर है सौंदर्य तुम्हारी आंख अभी इतनी कुशल नहीं कि चीजों को सुंदर बना दे कि तुम जो देखो वही सुंदर हो जाए अभी तो कुछ सुंदर होता है तो सुंदर मालूम पड़ता है तुम्हारी आंख कोरी है खाली सिर्फ खबर देती तुम्हारी आंख अभी सर्जनात्मक नहीं तुम्हारी आंख केवल बिंब उतारती जैसा होता बता देती तुम्हारी आंख निष्क्रिय है तुम्हारी आंख का काम अभी नकारात्मक है जो है बता देती लेकिन तुम्हारी आंख में अभी सृजन की क्षमता नहीं कि जिसे देखे वह सुंदर हो जाए कि जहां तुम्हारी आंख पड़े वहां गीत जन्मे कि तुम जिसे देख लो वह गरिमा को उपलब्ध हो जाए महिमा को उपलब्ध हो जाए यही संतों की आंख की खूबी बाजीद ने लिखा है मैं अपने गुरु के पास बारह वर्ष रहा तीन वर्ष तक तो वे मुझसे बोले ही नहीं मैं बैठा रहा बैठा रहा ऐसे जैसे मैं हुई नहीं औरों से बोलते थे बात करते थे न मेरी तरफ देखते थे न बोलते थे तीन वर्ष बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और उस देखने में ही मेरा जन्म हुआ बस उनकी आंख मुझ पर पड़ी कि मैं जन्मा सब बदल गया उस क्षण फिर तीन साल बीत गए और एक दिन वे मुझसे बोले और वह बोल और ऐसी मधुरिमा तन प्राण में छा गई ऐसा स्वाद ऐसा मस्ती जो किन्हीं शराबों में नहीं हो सकती फिर तीन साल बीत गए और एक दिन उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी पीठ थपथपाई और वह स्पर्श और जैसे लोहा सोना हो जाए और तीन वर्ष बीत गए और एक दिन उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि बाजीत अब तू तैयार अब तू जा सोयों को जगा अब तू जा लोगों की आंखों में झांक उनकी पीठ थपथपा उनसे बोल उनको गले लगा और साधना पूरी हो गई बस बारह वर्ष बैठे बैठे पूरी हो गई सदगुरु जिसकी तरफ देखते हैं उसके देखते ही तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट जल जाता तुम्हारा अंधेरा छट जाता एक ऐसी आंख भी है जिसका स्वभाव आनंद को पैदा करना और तुम दूसरी इससे विपरीत आंख से परिचित हो इसलिए बात तुम्हें समझ में आ जाएगी ऐसी आंखें हैं जो तुम्हारी तरफ देखें तो तुम एकदम कीड़े मकोड़े हो जाते तुम्हारे तथाकथित साधु संत जिनकी तुम पूजा करते रहे हो जिनको तुम समादर देते रहे हो कभी उनके पास जाकर देखना उनकी आंखें तुम्हें ऐसी देखती हैं ऐसी आलोचना से ऐसी निंदा से कि उनके देखते ही तुम तत्क्षण चाहते हो जमीन फट जाती और हम समा जाते उनकी आंखें तुम नार की कीड़े देखती उनकी आंखों में तुम्हारा भविष्य दिखाई पड़ता है कि सड़ोगे नरकों में कि जलाए जाओगे कड़ाहों में उबलते तेल के उनकी आंखों में नरक है वही नरक वे तुम में देखते हैं और उनकी आंखों में निंदा है सम्मान नहीं सत्कार नहीं ये सच्चे संतों का लक्षण नहीं सत्य सच्चे संतों की आंखों में तो स्वर्ग होता है वहां तो जादू होता है पापी से पापी आदमी भी सच्चे संत के सामने खड़ा हो जाए तो पुण्यात्मा हो जाता खड़े होने से पुण्यात्मा हो जाता कुछ और करना नहीं पड़ता उसकी नजर काफी और क्या चाहिए उसकी नजर का जादू काफी और क्या चाहिए उसकी नजर की कीमिया काफी और क्या चाहिए सदगुरु तुम्हारा हाथ हाथ में ले ले बस बहुत हो गया अंतिम बात हो गई सदगुरु निंदा नहीं करता सदगुरु की खूबी ही यही है कि तुम्हारे गलत को भी रूपांतरित करता है शुभ में तुम्हारी काम वासना को राम की वासना बना देता है तुम्हारे क्रोध को करुणा बना देता है तुम्हारे लोभ को दान में रूपांतरित कर देता है तुम्हारी देह को मांस मज्जा मिट्टी की बनी देह को मंदिर का औहदा दे देता है विरहणी मंदिर दीना बारी यारी ठीक कहते कि देह तुम्हारा मंदिर है शरीर तुम्हारा मंदिर है क्यों रोते हो इस मंदिर में दिए को जलाओ आतिथे बनो अतिथि को पुकारो आएगा इसी मंदिर में इसी देह में इस देह को मिट्टी कह के इनकार मत करना क्योंकि यह अमृत का वास अमृत ने इसे अपने घर की तरह चुना है इस चुनाव में ही मिट्टी अमृत हो गई मिट्टी मिट्टी न रही संत की पहचान यही कि तुम पापी की तरह जाओ और पुण्यात्मा की तरह लौटो कि तुम रोते हुए जाओ और हंसते हुए लौटो कि तुम जाओ ऐसे कि जैसे पहाड़ों का बोझ धो रहे हो और आओ ऐसे कि तुम्हें पंख लग गए जहां ऐसी घटना घटती हो तो छूकना मत फिर फिर पकड़ लेना पैर फिर गह लेना बाह फिर आ गई घड़ी अपने को निछावर कर देने की बेवाहों के मिलन सो नैन भया खुशहाल मगर यह आंखें तभी पैदा होती हैं जब भीतर के अंतर्नाश से मिलन हो जाए ओंकार में जब कोई नहा जाता है तभी ये आंखें उपलब्ध होती हैं ये जादू भरी आंखें जो जिसको छू दे उसको किसी दूसरे लोक का वासी बना दे जिनका स्पर्श पारस का स्पर्श है ऐसी घटना घटी विवेकानंद राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे खेतरी के महाराजा के मेहमान थे अमेरिका जाने के पहले अब महाराजा तो महाराजा विवेकानंद का स्वागत कैसे करे और अमेरिका जाता है सन्यासी पहला सन्यासी स्वागत से विदा होनी चाहिए तो हरेक की अपनी भाषा होती अपने सोचने के ढंग होते महाराजा और क्या करता उसने देश की सबसे बड़ी जो ख्याति नाम वैश्या थी उसको बुलवा भेजा बड़ा जलसा मनाया वैश्या का नाच रखा ये भूल ही गया कि किसके लिए ये स्वागत समारोह हो रहा विवेकानंद के लिए और जब विवेकानंद को आखिरी घड़ी पता चला सब साज बैठ गए वैश्या नाचने को तत्पर है दरबार भर गया तब विवेकानंद को बुलाया गया कि अब आप आए तब उन्हें पता चला कि एक वैश्या का नृत्य हो रहा है उनके स्वागत विवेकानंद की दशा तुम समझ सकते हो बड़े मन को चोट लगेगी ये कोई बात है सन्यासी के स्वागत में वैश्या इनकार कर दिया जाने से साधारण भारतीय सन्यास की धारणा यही है इंकार कर दिया जाने से अपमानित किया अपने को अनुभव ये तो असम्मानजनक है वैश्या बड़ी तैयार होकर आई थी सन्यासी का स्वागत करना था कभी किया नहीं था सन्यासी के स्वागत में कोई नाच गान बहुत तैयार होकर आई थी बहुत पद याद करके आई थी कबीर के मीरा के नरसी मेहता के बहुत दुखी हुई कि सन्यासी नहीं आएंगे मगर उसने गीत नरसिंह मेहता का गाया बहुत भाव से गाया खूब रो के गाया आंखों से झरझर आंसू बहे और गाया उस भजन की कड़ियां विवेकानंद के कमरे तक आने लगी और विवेकानंद के हृदय पर ऐसी चोट पड़ने लगी जैसे सागर की लहरें किनारे पर टकराएं पछाड़ खाएं फिर मन में बड़ा पश्चाताप हुआ नरसी मेहता का भजन है कि एक लोहे का टुकड़ा तो पूजा के ग्रह में रखते एक लोहे का टुकड़ा वधिक के घर होता है लेकिन पारस पत्थर को थोड़ी कोई भेद होता है चाहे वधिक के घर का लोहा ले आओ जिससे काटता रहा हो जानवरों को और चाहे पूजा ग्रह का लोहा ले आओ जिससे पूजा होती रही हो पारस पत्थर तो दोनों को छू के सोना कर देता ये बात बहुत चोट कर गई घाव कर गई ये विवेकानंद के जीवन में बड़ी क्रांति की घटना थी मेरे अपने देखे रामकृष्ण जो नहीं कर सके थे उस वैश्य ने किया विवेकानंद रोक ना सके आंख सांसू आंसू गिरने लगी तो चोट भारी हो गई अगर तुम पारस पत्थर हो तो ये भेद कैसा है पारस पत्थर को वैसा दिखाई पड़ेगी सती दिखाई पड़ेगी पारस पत्थर को क्या फर्क पड़ता है कौन सती कौन वैसा है लोहा कहां से आता है इससे क्या अंतर पड़ता है पारस पत्थर के तो स्पर्श मात्र सभी लोहे सोना हो जाते रोक ना सके अपने को पहुंच गए दरबार में सम्राट भी चौंका लोग भी चौंके कि पहले मना किया अब आ गए और आए तो आंसू आंसू झर गए थे रोने का मुझे क्षमा करना उस वैसा से का मुझे क्षमा करना मैं अभी कच्चा हूं इसलिए आने से डरा कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वासना छुपी होगी इसलिए आने से डरा नहीं तो डर की क्या बात थी लेकिन तूने ठीक किया तेरी वाणी ने मुझे चौंकाया और जगाया विवेकानंद उस घटना का बहुत स्मरण करते थे कि एक वैश्या ने मुझे उपदेश दिया ये भेद सच्चे ज्ञानी के पास अभेद पापी जाए तो पुण्यात्मा जाए तो दोनों को छूता है दोनों को स्वर्ण कर देता है उसकी आंखों का जादू ऐसा है उसके हृदय का जादू ऐसा है मगर यह संभव तभी तो होता है जब भीतर का अनाहत सुना गया हो देवाह के मिलन से नैन भया खुशहाल आंखें न केवल मस्त हो जाती हैं बल्कि मस्ती देने वाली भी हो जाती और तभी जानना कि आंखें मस्त हुई जब मस्ती देने वाली भी हो जाए यह किस बादल का आंसू है जो ढल गया अधर पर मेरे बचपन से जो उदास थे वे सोए सपने लगे महकने हार गया मैं खोज खोज कर कोई नहीं मिला अपने सा जाने कहां कहां भटका हूं गुमसुम आत्ममुग्ध सपने सा यह किस पायल का सरगम है जो भर गया कंठ में मेरे वर्षों से जो गीत मौन थे वे कोकिल से लगे चहकने यह किस बादल का आंसू है जो ढल गया अधर पर मेरे बचपन से जो उदास थे वे सोए सपने लगे महकने एक बूंद पड़ जाए अनाहत नाद की कि जीवन रूपांतरित हो जाता है दुनिया वही होती है लेकिन तुम वही नहीं रह जाते और जब तुम वही नहीं रह जाते तो दुनिया वही कैसे रह जाएगी तुम्हारे देखने का ढंग बदला कि दिखाई पड़ने वाली सारी चीजें बदल जाती दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली आंख बदली तो जहान बदली यही वृक्ष तुम देखोगे फिर अनाहत के नाद में डूबी हुई आंखों से और चकित हो जाओगे ये वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं है ये पृथ्वी की आकाश को छूने की आकांक्षा ये वृक्ष भी सत्य की खोज में वैसे ही बढ़ रहे हैं आकाश की तरफ जैसे तुम इनका अपना ढंग इन वृक्षों पर भी फूल वैसे ही खिल रहे हैं जैसे तुम्हारे भीतर प्रार्थनाएं उमग रही फूल इनकी प्रार्थनाएं और ये पक्षी जो सुबह सुबह गीत गा रहे हैं ये भी उसके ही स्वागत का गान चल रहा है ये सब उसी के महोत्सव का हिस्सा है ये सारा जगत तल्लीन है उसी की प्रार्थना में उसी की पूजा में ये जो पहाड़ झुके हैं ये उसी की नमाज में झुके और ये जो सागर तड़फ रहे हैं ये उसी की अभीपसा में तड़फ रहे एक बार तुम्हें अपने भीतर के स्वर का बोध हो जाए तुम्हें सारा जगत उसी के नाश से भरा हुआ मालूम पड़ेगा हर वीणा पर तुम उसकी धुन सुनोगे हर बांसुरी में तुम उसी का गीत सुनोगे हर बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हो जाएगा और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक समझना चूकते रहे चूकते रहे खोते रहे खोते रहे दिल है किधर खिंचा हुआ महब है किसकी याद में क्या कहें इसकी वजह हम तर्क हुई नमाज की छोटी मोटी नमाजें फिर छूट जाती जब बड़ी नमाज घटती जब उसकी याद घटती तो फिर कौन फिक्र करता है कि मंदिर गए गुरुद्वारा गए चर्च गए कहां गए कौन फिक्र करता गए या नहीं गए ये भी कौन फिक्र करता है एक सूफी फकीर जिंदगी भर मस्जिद जाके पांचों बार नमाज पढ़ता रहा कभी नहीं चूका गांव नहीं छोड़ा उसने कभी कि कहीं दूसरे गांव जाऊं और मस्जिद ना हो सत्तर साल गांव आदि ही हो गया था उसको मस्जिद में देखने का बीमार हो तो भी जाता था एक बार तो इतना बीमार था कि लोग उसे उठा के ले गए थे चल भी नहीं सकता है लेकिन एक दिन सुबह वो मस्जिद नहीं पहुंचा तो निष्कर्ष स्वाभाविक स्वाभाविक था कि गांव के लोगों ने समझा कि बूढ़ा रात मर गया और तो बात हो ही नहीं सकती जिंदा होता तो तो आते ही मर ही गया होगा तो सारे उसके झोपड़े पे गए और वो क्या कर रहा था मालूम मरा नहीं था सच तो यह है इतनी जिंदगी कभी किसी ने उसमें देखी नहीं थी इतना जिंदा था अपनी खंजड़ी बजा रहा था वृक्ष के नीचे बैठ के सूरज उग रहा था पक्षी गीत गा रहे थे वो अपनी खंजली बजा रहा था जैसे पक्षियों के गीत को ताल दे रहा हो और ऐसा मस्त था और ऐसा डोल रहा था और आनंद के आंसू बह रहे थे गांव के लोगों ने कहा कि मरते वक्त काफिर हो गए ये क्या कुफ आज मस्जिद क्यों नहीं आया नमाज क्यों छूटी उसने कहा जब तक नमाज नहीं आती थी तब तक मस्जिद आता था अब नमाज आ गई अब आने से क्या फायदा जब पाठ सीख लिया तो अब पाठशाला क्यों आऊं तुमसे सच कहता हूं उस बूढ़े फकीर ने कहा कि आज नमाज पैदा हुई आज प्रार्थना पैदा हुई अब कहा जाना कहा आना अब जहां हूं वही मस्जिद है दिल है किधर खिंचा हुआ महब है किसकी याद में क्या कहें इसकी वजह हम तर्क हुई नमाज क्यों नमाज क्यों छूट गई इसकी वजह हम कैसे कहें कौन समझेगा इसलिए छूट गई कि नमाज पूरी हो गई ध्यान जब पूर्ण होता है तो छूट जाता है ध्यान की पूर्णता ही समाधि है जब ध्यान की जरूरत नहीं रह जाती तब समाधि है प्रेम जब पूर्ण होता है तो मौन हो जाता है कहने योग्य कुछ बचता नहीं और जो है अकथ्य अव्याख्य बेवाह के मिलन सो नैन भया खुशहाल दिल मन मस्त मतबल हुआ गुंगा गहर रसाल दरिया कहते हैं दिल ही मस्त नहीं हुआ मन भी मस्त हुआ मन जरा मुश्किल से मस्त होता मस्त होना मन की आदत नहीं लेकिन मन को भी मस्त होना पड़ता जब दिल मस्त हो जाता मन यानी मस्तिष्क दिल यानी हृदय हृदय के लिए तो मस्त होना सरल मस्तिष्क के लिए मस्त होना कठिन क्योंकि मस्तिष्क है गणित तर्क विचार हिसाब किताब की दुनिया हृदय तो मस्त हो जाता है बड़ी आसानी से लेकिन दरिया ठीक कहते हैं जब तक हृदय के साथ साथ मन भी मस्त न हो जाए तब तक समझना कि मस्ती अभी अधूरी खंडित आधा आधा हुआ एक हिस्सा अभी अछूता रह गया भीगा नहीं ये वर्षा पूरी नहीं हुई भीगना तो पूरा होना चाहिए और ऐसा होता है अगर हृदय पूरा डूब जाए मस्ती में तो हृदय की मस्ती बह बह के मन को भी मस्त कर देती ये अपूर्व क्रांति है जब मन भी मस्त हो जाता जब मन भी मस्ती के गीत गाता जब मन का गणित और तर्क भी मस्ती की सेवा में संलग्न हो जाता दिल मन मस्त मतवल हुआ मतवाला होगा समग्रता तुम्हारी एक मतवालापन हो गई गुंगा गहर रसाल और ऐसा स्वाद पाया ऐसी शराब पी कि अब हालत गूंगे की हो गई कह नहीं सकते क्या पिया कह नहीं सकते क्या चखा कह नहीं सकते क्या हुआ गुंगा गहर रसाल रस तो बहुत हुआ है मगर बड़ी गहनता हो गई है गूंगेपन की बोलते नहीं बनता